राम जन मनरंजन राम खल दल गंजन राम भव भय भंजन राम सीता राम सीता राम राम जन मनरंजन राम खल दल गंजन राम भव भय भंजन राम सीता राम सीता राम जय जगवंदन दुष्ट निकंदन दशरथ नंदन राम सीता राम राम सीताराम राम जन मन रंजन राम खलदन गंजन राम भव भय भंजन राम सीताराम सीताराम रघुकुल के पति राम निर्बल के बलराम निर्धन के धन राम सीता राम सीता राम राम जन मन रंजन राम कल दल गंजन राम भव भय भंजन राम सीता राम सीता राम वृथा की छोड़ के सब धूमधाम राम कहो समय जितना भी मिले सुबह शाम राम कहो जो तुमको चाहिए या राम राम राम कहो बड़ा है काम यही राधे श्याम राम कहो राम अपने तो एक राम जय जय सीता राम भजले रे मन राम सीता राम सीता सीता राम राम सीता राम सीता राम राम जन मन रंजन राम खल दल गंजन राम भव भय भंजन राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम बिना विजय के लिए तो माँ का दूध राम पृथ्वी पर यसुरों का मंडल विजय मंडल कहलाता है फिर कारण क्या है कि वानर दल उस दल को दलता जाता है मर जाए रण में कुंभकरण घननाद नरांतक अहिरावण फिर भेदस कंधर शांत रहे सोचे न जरा इसका कारण माना की लड़ाई की उमंग निश्चर दल भी है बढ़ी हुई कोई बेहृदय सरोवर पर है पोच पने की चढ़ी हुई फिर इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मिलने जाते हैं हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी पीछे जाएगा संधि पत्र पहले स्वतंत्रता जाएगी फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी सोने के लंका सोने से वीरो सुनी हो जाएगी इसलिए यह उचित है हृदय करो बलवान मचने दूरण भूमि में आज महाघमसान खाड़े पर से तो मर मुदगर सरधनवा भाले ले लो तुम अस्त्रो शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम बोलो सब हर हर महादेव चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर निज जन्म भूमि के आन बान कायम रखो अपने बल पर मैं भी चलता हूँ साथ साथ धावा आंधी सा करना है विजयी होकर अब जीना है वीर भूमि पर मरना है विजयी होकर अब जीना है वीर भूमि पर मरना है रणवीर चलो कुलवीर चलो दलवीर चलो बलवीर चलो रणवीर चलो कुलवीर चलो दलवीर चलो बलवीर चलो चने बोले से चाबो चपेटों की चोटों से किसो को रिछो को चीर धरो दृढ़वीर चलो कुलवीर चलो दलवीर चलो बलवीर चलो झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए खंग का पानी है अब पीने पिलाने के लिए यही सागर है सिपाही के नहाने के लिए पानी के स्थान में रक्त का पान हो देरी को युद्ध की भूमि मसान हो धारा प्रवाह से आगे बढ़ो रणवीर चलो कुलवीर चलो दलवीर चलो बलवीर चलो रणवीर चलो कुलवीर चलो दलवीर चलो बलवीर चलो इस प्रकार सज कर चला निश्चर विशाल पृथ्वी थर्राने लगी दहल गए दिखपाल काली आंधी काले घन शाम आगे को बढ़ता जाता था से कर दे निश्चर दल ने दिन में दिन कर न दिखाता था रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुँचा तब जय कौशलाधीश कह कर कपिकटक सामने आ पहुँचा यह रण भाकुरा रामा दल जब खलभल कर खल धल उठा रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा दहल उठा रावण ने देखा जब निज दल का यह हाल तब तेवर तिरछे तने तीर तत तक तत्काल तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम कोहरे सा फटने लगा वानर कटक तमाम देखा जब बजरंग रे कपिदल है बेचैन तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नयन पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया थर थरा उठा निश्चर समूह निश्चर पति टूट गया सन्नाटे में दस कंधर है अचरज में असुरों का दल है हनुमत के घाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है मान गया रावण कहाँ धन्य तुझे है किस खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति शीश सुर असुर नाग नर यक्षो में इतना साहस दे खान सुनाम इतना साहस दे खान सुनाम रावण का रथ तोड़ सके यह बल यह कहूँ दे खान सुनाम रावण का रथ तोड़ सके यह बल यह कहूँ दे खान सुनाम यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ तोड़ा है जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है कहा अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर मैं बानर किस योग्य हूँ जो कुछ है रघुबीर यह सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं जब ग्रीष्म बहुत गर्म आता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं रावण बोला मैं समझ गया यह ब्रह्मचर्य का बल है तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि यही तुम में सच्चा बल है अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ रणनायक के पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ हनुमत ने कहा क्षमा करिए पदवी न मान की सूचक है कोरे गुमान की सूचक है मिथ्याभिमान की सूचक है जो करने करने वाले हैं वे कहते कब हैं करते हैं हम रण के सच्चे वीर बने रणवीर इसी पर मरते हैं यह उत्तर सुन दस वदन लज्जित हुआ अपार पानी पानी हो गया था जो पानी पानीदार